ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला की इतात करो और रसूल की इतात करो और अपने अमाल ज़ाया ना करो